सुन जान के परम सुख पावा सादरता सुचरण सिर नावा तब सन कह कृपा निधाना आयसु हो ये जाऊँ बनयाना संतत मो पर कृपा करे हो सेवक जानित जेहु जन ने हूँ धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी सुन प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले जासु कृपा यज शिव सन कारे चहत सकल परमारथ बारे ते तुम राम काम प्यारे दीन बंधु मृदु बचन उचारे अब जानी मैं श्री चतुराई भजी तुम सब देव बिहाई यही समान अतिशय नहीं कोई शील कस नयस होए ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं अब मैंने लक्ष्मण जी की चतुराई समझी जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा ये विधि कहूँ जासु अब जाहु अब स्वामी कहु नाथ तुम अंतर जामी अस कही प्रभु बिलोक मुनि मुन धीरा लोचन जल बह पुलक शरीरा तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं तीख जप तप का किए जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावहि रघुबीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावही मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए हे नाथ आप अंतर्यामी हैं आप ही कहिए ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे मुनि के नेत्रों से प्रेमाशुओं का जल बर रहा है और शरीर पुलकित है मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल सादर सुनहि जति पर अनुको कठिन कालमलकोश धर धनकोश धर्म न धर्मन ज्ञानन जोग जप परिहरि सकल भरोष रामहि ते चतुर नरम। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है इसमें न धर्म है न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं मुनिपद कमल नाय कर चले बन सुर नर मुनि ईसा आगे राम अनुज पुनि पाछे बर बेस बने अति काछे मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं उभय बीच श्री सोहत कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे सरिता बन गिर अवघट घाटा पति पहचान दे बर बाटा जहाँ जहाँ जाय देव रघुराया करहि मेघ तह तह नभ छाया मिलाय सुर विराध मग जाता आवत हे रघुवीर निपाता दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला तुरत ही रुचिर रूप तहि पावा देख दुखी निज धाम पठावा मुनियाए जह मुनि सर भंगा सुंदर अनुज जान की संगा देख राम मुख पंकज बर लोचन भृंग सादर पान करत यते धन्य जन्म सरभंग श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि सरभंग जी थे श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनिश्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदरपूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं सरभंग जी का जन्म धन्य है